काल पर्यतम किम साधु किंचित काल पर्यतम साधु अथवा कश्चित काल पर्यतम साधु संदीप मावा गए किमरत्न ध्रुवदेव महोदय किंचित काल पर्यंत तो किंचित काल पर्यंतम व कश्चित काल पर्यंतम केन न समयवाची शब्देषु द्वितीय व्यक्ति आगच्छति कथम द्वितीया किं रथम् आगच्छेत् तत्र केन न कर्मणि द्वितीया भवति अत्र कर्म नास्ति कर्म नास्ति तदापि समयवाची ये शब्दाः सन्ति तेषु द्वितीयव्यक्ति आगच्छति केन हेतुना केन केन सूत्रेण वार्तिकं किम् ज्ञानं नास्ति तर्हि हेतुः उपस्थित नास्ति अनुपस्थिते हेतु कथं भवतां वार्तां वार्तां मन्यामहे हेतु अन्वेषणीय अवगतम् कश्चित् कालपर्यन्तम् अथवा किञ्चित् काल किञ्चित् नपुंसकम् कालः इति पुल्लिङ्गः तो किंचित कश्चित कालश विशेषण वर्तते न वा अवगतम मया अनेन हेतुना उक्तम यदि तत्र अस्ति वार्तिकं सूत्रं तर्हि दर्शनीयम् साधकमहाभागे अस्माकं पूर्व या या घटना जाता जीवने शोभना अशोभना वा ताम घटनाम ईश्वर स्मृति न वा स्मृति हम तो सर्वेशा घटनायाम न स्मरण नहीं नहीं पुनः वदामि अस्माभि यद कार्यम शोभनम अशोभनम कृतम पूर्वम तम कार्यम ईश्वर स्मृति न वा स्मृति ईश्वर स्मरति वान् ईश्वरः स्मरति अस्माकं सर्वेषां कार्याणाम् ईश्वरस्य स्मरणे अस्ति एव यतो हि सर्वज्ञत्वात् न अनुभूत स्मृति यथा वयं सम्भ्रामः पूर्वतनीयां घटनां कार्यम वा तथैव ईश्वरोऽपि स्मृति न वा यथा वयं स्मरामः हम्म। तथा ईश्वरः न स्मरति यतो हि भविष्यत्कालः भूतकालः च ईश्वरे न भवति स सदा वर्तमानः परन्तु सर्वज्ञत्वात् स सर्वं जानाति रणवीर महोदय यदस्मा भी पूर्वम शोभनम अशोभनम कार्यम कृतम तत्कार्यम ईश्वर स्मृति न वा तस्य स्मरणम करोति न वा करोति विशाल महोदय वर्णन करोति येषां कार्याणां फलप्रदानम् अवशिष्टम् अस्ति तानि कार्याणि स्मृति भवान् स्मरणं तु न प्रतीयते ईश्वरस्य तस्य ज्ञानं सदैव भवति बहुत दृष्टा न स्मृति रणवीर मामा गए भगवान कि तस्य ज्ञान वर्तमान भवति सदा वर्तमानं जानम् किं दृष्टान्तं प्रदास्यति भवान् कथमं दृष्टान्तं कथमः दृष्टान्ते कथमं दृष्टान्तं प्रदास्यति भवान् कथम कथमं दृष्टान्तं प्रदास्यति तस्य बोधनार्थम् इवस्य प्रदातुं शक्नुमः भगवन् हम्म? जीवस्य दृष्टान्तं प्रदातुं शक्नुमः वै धर्मेण्य यथा ये ये सर्वज्ञाः न भवन्ति ते ते हम्म। पुनः पुनः अनुभूतविषयं स्मरन्ति अस्तु किन्तु ईश्वरः एवं जीववत् न अस्ति सः सर्वज्ञो तस्मात् कारणात् तस्य ज्ञानं सदा वर्त वर्तमान भवती साधक महाभाग है अनेन उत्तम शोभनम अशोभनम हुआ मैं एवं वक्तव्य अहम न जातुम सकता है ध्रुवदेव महोदय मम विचारेण ईश्वरा स्मरणं तु तदा करिष्यति यदा विस्मरणं भविष्यति विस्मरणं तु भवति न ईश्वरम् किं किं कापि वार्तां वार्ताम् ईश्वरः विस्मरति तु न यदा विस्मरिष्यति तदैव तु स्मरणं करिष्यति तर्हि किं तस्मात् कारणात् सदैव तस्य ज्ञाने वर्तते ईश्वर विस्मृति एव न अर्थात् विस्मरणमेव न करोति किं समीचीनं विशालमहोदय विस्मरणं भवति न वा ईश्वरस्य न भवति तर्हि स्मरणं कथं करिष्यति अस्माकमपि विस्मरणं न भवति पुनरपि वयं स्मरणं कुर्मः अस्माकं ज्ञानं भवति अस्माकं तु विस्मरणं भवति संस्काररूपेण ज्ञानं भवति मनसि स्मरणे नहीं संस्कार कारणात् भविष्यति पुनः तु नहीं नहीं संस्कारे भवेत् तत् स्मरणं न उच्यते संस्कारेण स्मृति उत्पद्यते पुनः तो संस्कार है स्मृति रूपम नास्ति नास्ति संस्कार तो स्मृति नास्ति साधन वहां भाग है तस्मात् कारणं किमपि तस्य ज्ञान बहिर्ना भवति हम्म। तो अपेक्षा नास्ति स्मरणं तत्तु ध्यानस्वरूपम् अस्ति सर्वं हम्म। तस्य मध्ये अस्ति हम्म। अपेक्षा नास्ति यथा ईश्वरः स्मरणं न करोति इति प्रतिज्ञा हेतु सर्वजत्वात् इति हेतु किमुक्ता ध्यान स्वरूप तो जीवात्मा भी अस्थि ध्यान स्वरूप हेतु रास्ते अनेकांति का हेतु आवाज है सर्वज्ञत्वाद तरी उदाहरण किम जो यथ सर्वज्ञ भवती है यथ यथ नपुंसकम भवती

अस्तु यथा केनापि शोभनं कार्यं कृतं धनस्य प्रदानं कृतं धनं दत्तम् पञ्चवर्ष पूर्व तो ईश्वर जानाति अनेन धनं प्रदत्तं न वा जानाति सर्वेषां जीवानां कथं जानाति पंचवयेन साधयतु ईश्वरः सर्वेषां जीवानां सर्वाणि कार्याणि सदैव जानाति प्रतिज्ञा सर्वज्ञत्वात् इति हेतु वैधर्म्येण उदाहरणमत्र अस्तु यथा ज्ञानस्वरूपाः जीवात्मा जीवात्मनः अल्पज्ञत्वात् भिन्नेषु भिन्नेषु कृतेषु कार्ये कार्येषु ज्ञानं सततं न भवति वाक्यं कथं जातम् सर्वे जीवात्मनः स्वं स्वं कृतं कार्यं भिन्नेषु भिन्नेषु अवस्थेषु अवस्थासु विस्मरन्ति सततं न जानन्ति एवं तथैव वैधर्म्येण ईश्वरः सर्वज्ञत्वात् तान् तानि तानि सर्वाणि कार्याणि सदैव जानाति हम्म। तस्मात् तस्मात् ईश्वरः सर्वदा सर्वाणि कार्याणि हाँ हाँ जानाति हेतु हेतुपूर्वक प्रतिज्ञा विधेया सर्वज्ञत्वात् न विस्मरति अच्छा आप क्या अनुभव करते हैं कोई सिद्धांत के आधार पर बातचीत करने लग जाए और आप संस्कृत में बोलने लग जाए तो क्या करोगे आप ये बताओ कैसे बोलोगे वहां कैसा लगेगा आपको कोई जान के करने लग जाए और कोई संस्कृत भाषा के प्रचलन व्यवहार में लाने के लिए बातचीत करने लग जाए कोई आपकी परीक्षा लेने के लिए वार्तालाप करने लग जाए तो क्या करोगे मैं हम्म? तैयारी जी रणबीर महोदय अन्य हम्म? प्रयासम ऐसे अनुभव होता है कि हम इस विषय में विशेष परिश्रम नहीं कर पाए नहीं करते नहीं करना चाहते ऐसा तो अनुभव हो गया होगा हाँ जी विशाल जी अब मानव निर्माण जीवन के विषय में कभी कभी व्यक्ति विद्या के विपरीत अविद्या से प्रभावित होकर विचारता है सोचता है किसी विषय को जानता है यदि वो व्यक्ति सावधान न हो तो अविद्या के कारण वह जो अच्छे कार्य हैं उनको बुरा समझता है जो बुरे कार्य हैं उनको अच्छा समझता है ध्रुवदेव जी तो राइए क्या कहा कभी कभी मनुष्य अविद्या के कारण जो अच्छे कार्य हैं उनको बुरा समझता है वह जो बुरे कार्य हैं उनको अच्छा समझता है इस स्थिति से हम कैसे अपने आप को बचा पाए कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं इसका उपाय है पहले से हमने विद्या और अविद्या का स्वरूप अच्छे प्रकार से जान रखा है समझ चुके हैं हम हाँ जी संदीप जी क्या समझे फिर से सुनो इस घटना से पहले हम विद्या के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान चुके हैं और जब विद्या के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान चुके हैं तो उस समय अविद्या का रूप भी जाना जा चुका है अब क्या समझे विद्या के स्वरूप को जिस समय जान चुके हैं और उस समय अविद्या का स्वरूप भी जाना जा चुका अब जो व्यक्ति सावधान है वो देखता है कि अब मैं जो विचार करने लगा हूं इस कार्य को करूं अर्थात पूरे कार्य को अच्छा समझ के करने की स्थिति उत्पन्न हो गई तो वो झट देखता है कि ये मेरा निर्णय इस कार्य के करने के लिए विद्या के माध्यम से हुआ है या अविद्या के माध्यम से हुआ है यदि वो सावधान है तो ये समझेगा कि ये बुरा कार्य करने का निर्णय मेरा अविद्या के माध्यम से हुआ है विद्या के माध्यम से नहीं हुआ इसलिए ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए साधक जी बोलिए क्या समझ में आया विद्या के स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति जब बुरे कर्म में प्रवृत्त होता है तो जो सावधान है वह ये जानता है कि ये जो इस समय में बुरे कर्म में प्रवृत्त हो रहा हूँ ये ए, मैं अविद्या के कारण से हो रहा हूँ या विद्या के कारण तो वो देखेगा कि विद्या और अविद्या का स्वरूप जो मैंने जाना समझा पढ़ा पढ़ाया वो तो उस क्षेत्र में तो इस कार्य को बुरा माना जाता है अच्छा नहीं माना जाता उस विद्या के माध्यम से हमने इसको जाना समझा तो इसको बुरा माना गया है और अब तो रहा है तो तत्काल वो अपने कार्य करने का निश्चय निर्णय परिवर्तित कर देता है बदल देता नहीं करना आपको घटना को लेते हुए कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है इस रीति पद्धति प्रकार को जो व्यक्ति नहीं जानता नहीं समझता वो बुरे कार्यों से अपने आप को नहीं बचा सकता कुछ कार्य बहुत बड़े लंबे चौड़े बाहर के होते हैं शारीरिक होते हैं कुछ कार्य छोटे और तीव्र गति से होने वाले मानसिक होते हैं कुछ कार्य वाणी के होते हैं वो मन से तो स्थूल होते हैं और शारीरिक कार्यों से सूक्ष्म होते हैं एक उदाहरण बनाते हैं हम किसी व्यक्ति ने बिना ही कारण के हमारा अपमान कर दिया आरोप लगा दिए या और किसी प्रकार से तो उस व्यक्ति के आरोप लगाने से कटु शब्द बोलने से अनुचित बिना कारण के एकदम व्यक्ति के मन में आए कि मैं इसका सवाया डेढ़ा अपमान करूं आएगा एकदम या नहीं आएगा क्यों साधक जी अच्छा, सावधान होगा तो ऐसा ही आएगा नहीं आएगा अब वो जो निर्णय किया उसने मन से झटाझट कि मैं इसका सवाया डेढ़ा अपमान करूं अब यदि तो वो वाणी को रोक करके और मन में सोचता है कि मैंने ये निर्णय किया ये विद्या के अनुरूप किया या विद्या के अनुरूप किया यदि इतना विवेचन करता है तो समझ गया कि इसने तो अपनी अज्ञानता से स्वार्थ से किन्हीं कारणों से ये बिना कारण के मेरा अपमान कर दिया और यदि मैं भी ऐसा ही करता हूँ तो मेरा जीवन का स्तर गिरेगा आध्यात्मिकता नष्ट हो जाएगी इसके साथ द्वेष हो जाएगा और इस पर भी कोई अच्छा प्रभाव पड़ेगा ये भी नहीं दिखता ये मेरा निर्णय सवाया डेढ़ा अपमान करूं ये अविद्या के द्वारा माध्यम से निर्णय हुआ है इसलिए ये त्याज्य है नहीं करना चाहिए कभी कभी ऐसी घटनाओं में व्यक्ति को कितना ही कोई रोके कितना ही कोई समझाए वो उसके दिमाग में जो बात आ गई वो उसको छोड़ता ही नहीं कहीं नहीं कि पूरी चेष्टा करता पूरा झगड़ा खड़ा करता इसमें यह होता है कि वो ज्ञान से बुद्धि से ये देख नहीं पाता कि इसके परिणाम क्या होंगे ये नहीं देख पाता उसके परिणाम देखने वाला व्यक्ति देखता है व्यक्तिगत जीवन पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे ऊपर फिर इन लोगों के ऊपर समाज वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आगे चलते चलते इसके परिणाम क्या निकले वो इतना लंबा चौड़ा देखता है तब कहना न कहना इस बात का निर्धारण करता है जब देखता है मुझ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला नहीं और समाज पर भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा आगे इसके परिणाम भी अच्छे होंगे तब वो बात कहेगा उसने देखा मैं भी अपमान करता हूँ सवाया डेढ़ा इस आधार पर इसको दुखी करता हूँ अपमानित करता हूँ एक स्थिति अथवा मैं इसको समझाने का प्रयास करूं तो परिणाम अच्छे होंगे ऐसा पता चल गया तो उसने कहा देखो आपने जो ये शब्द बोले ये बिना कारण के बिना समझे बोल दिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपने जो कुछ कहा मेरी दृष्टि में ये बिना कारण के आपने कह दिया है मैं ऐसा समझता हूँ फिर भी यदि आप मुझे समझाएं ये दोष मुझ में है तो मुझे मानने में कोई बाधा नहीं ऐसे उसने समाधान ढूंढा और एक बात ये होती है ऐसा कहने पर भी वो व्यक्ति दोबारा इसी प्रकार से आक्रमण करेगा ऐसा उसने सोचा ऐसा समझाने पर भी फिर कहेगा ये तो फिर वो क्या करता है मौन रहता है आपको मनन करने में मानसिक क्रियाओं में वाणी की क्रियाओं में शारीरिक क्रियाओं में अच्छी बुरी क्रियाओं में कैसे कैसे सोचना चाहिए कैसे कैसे इन पर नियंत्रण रखा जाए कब क्या कुछ करें ये बताया जा रहा है

परिणाम को देखे किसी को बुरा किसी को अच्छा किसी को बुरा किसी को अच्छा दिन भर मानता रहता है अर्थात ये करो अच्छे को बुरा बुरे को अच्छा अच्छे को बुरा बुरे को अच्छा दिन भर मानता रहता है कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर बोलो रणवीर जी आ गया समझ में ध्रुवदेव जी साधक जी आया समझ में क्या समझ में आया जो विचार कर सावधानी से बोलता नहीं सोचता नहीं है वह व्यक्ति दिन भर किसी के भलाई के अच्छे अच्छे को बुरा बुरे को अच्छा अच्छे को बुरा बुरे को अच्छा दिन भर करता रहता है उल्टा तो वो उसके करने से पहले परीक्षा नहीं करता दूसरी बात वो रुक करके नहीं विचारता उस विषय पर रुक करके विचारो ऐसा नहीं करता परिणामों को नहीं देखता एक स्थिति स्वयं को वो रोक ही नहीं पाता ये समस्या ध्रुव देव जी समझ में आया क्या क्या बताया कौन कौन सी बात बताई हाँ जी आप बोलो व्यक्ति अच्छे को बुरा बुरे को अच्छा इसलिए करता रहता है क्योंकि वह परीक्षा नहीं करता दूसरी बात वह उस क्षण पर उस स्थल पर जब उसे समझ में आता है वो रुक कर विचार नहीं करता इसलिए और तीसरा स्तर यह भी है जो उससे घटिया है कि व्यक्ति स्वयं को रोक ही नहीं पाता और एक परिणाम को नहीं देखता परिणाम को नहीं देखता विचार करके नहीं करता विचार करके करे ना पहले बिना विचारे कर देता और समस्या यह है कि अपने आप को रोक नहीं पाता विवश होके कर रहा ये अपने आप को रोकना कठिन तो है पर असंभव नहीं है साधक जी अपने आप को रोक देना रोक के विचार करना नहीं करना कुछ भी नहीं करना कुछ समझ में आया प्रयास कर रहे हैं जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उसकी स्थिति या तो हम उसको अच्छा मानते हैं या हम उसको बुरा मानते हैं जब अच्छा मानते हैं तो इच्छा होती है बुरा मानते हैं तो अनिच्छा होती है ये स्थिति रहती है अब वो पहले न अच्छा मानता न बुरा मानता अपने आप को रोक दिया उसने भाई विचार करो जो अच्छा और बुरा मानने की स्थिति में हमारी बुद्धि चलती है उस समय दो धाराएं होती हैं कि या तो हम अज्ञानता के आधार पर उस वस्तु को देखेंगे अज्ञान से देखेंगे हम अथवा ज्ञान से उस वस्तु को कार्य को देखेंगे हम साधक जी बताएंगे क्या समझ में आया कोई कार्य जो करना है या बोलना है उसको दो दृष्टि से व्यक्ति देखता है या तो वह उसको अज्ञान से देख रहा होता है नहीं या ध्यान से देखता है अब जब वो देखता है मैं इस कार्य को करने जा रहा हूँ अच्छा समझ के ये अज्ञान से देख के जा रहा हूँ करने के लिए या विद्या के माध्यम से देख करके इस कार्य को करने चला हूँ जब इस विचारधारा को वो पकड़ लेता है फिर वही बात है जो पहले सुनाई थी मैंने आपको वो जब उसके मन में अविद्या उभरी उभार ली तो उसको बुरा कार्य अच्छा लगने लगा ये स्थिति आई अब वो करने का इच्छुक हो गया अब उसने देखा ये जो मैं करने का इच्छुक बन गया करना चाह रहा हूँ ये अविद्या के कारण से करना चाह रहा हूँ या विद्या के कारण तो वो कहेगा जानेगा कि देखो हमने पहले प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अनुमान शब्द प्रमाण से निर्धारण किया है ये अच्छा है ये बुरा है उसको देखते हुए तो ये बुरा है उसने ये देखा तो जब अनुमान शब्द प्रमाण से बुरा हमने सिद्ध कर दिया है ये तो अब मैं इसको करने का इच्छुक क्यों बन गया क्यों करना चाहता हूं ये तो अविद्या के कारण है तो झट उस अविद्या को हटाता है नहीं करना ये अविद्या के माध्यम से ऐसा हुआ सक्षम स्थिति उसका उदाहरण आप ध्यान दें जीव आत्मा या तो ईश्वर की उपासना करता है या भौतिक पदार्थों की करता है बीच में खड़ा नहीं रह पाता हम विशाल जी बोलो क्या समझ में आया जीवात्मा या तो भौतिक पदार्थों की उपासना करता है अथवा ईश्वर की वो बीच में नहीं बीच में स्थिति में रुग्ण होने से हो जाए और कोई सोता हुआ हो जाए मूर्छा हो जाए ऐसी पर सामान्य स्थितियां जितनी भी है उसमें या तो ईश्वर की उपासना करेगा या लौकिक पदार्थों की करेगा अब देखेंगे आप आज जिस समय लौकिक पदार्थों में प्रीति रुचि रखेंगे वो लौकिक पदार्थों की उपासना है एक और ईश्वर में प्रेम रुचि जब आपकी होगी वो ईश्वर की उपासना है जब उस व्यक्ति ने देखा मेरी रुचि आकर्षण लौकिक पदार्थों में हुआ ठीक है उसने देखा कि ये रुचि लौकिक पदार्थों में जो आकर्षण हुआ है ये अविद्या के कारण हुआ या विद्या के कारण हुआ तो वो ध्यान देगा कि ये तो अविद्या के कारण से हुआ क्यों कि असंभूति की जो उपासना करते हैं वो भी दुख सागर में डूबते हैं और संभूति की उपासना करते हैं वो भी दुख सागर में डूबते हैं ये तो अविद्या के कारण से हुआ है तो वहां से वो अपने आप को रोकेगा रोक करके वो भौतिक पदार्थों के उपासना छोड़ ईश्वर की उपासना करेगा ये परिणाम निकलेगा अब विराम आप लंबे काल से इन बातों को पढ़ते हैं सुनते हैं पढ़ाते हैं ये कार्य सतत चलता रहता है इस बात को समझ रखिए कि आपके मन में कभी ऐसा निर्णय निश्चय न हो जावे कि इनको हमने जान लिया है ये समझ में आ गई है हम इन्हीं को पढ़ते और पढ़ाते हैं वर्षों से इन्हीं बातों को पढ़ते पढ़ाते आए आज भी इनका उपदेश किया जाता है अब ये हमें बातें आ गई ये विद्या आ गई समण रखिए आज आप ये सोच सकते हैं कोई पंद्रह वर्ष में तो कोई बीस वर्ष में कोई चालीस वर्ष में और कोई पचास वर्ष में भी ये देखने में असमर्थ रहेगा कि विषय भोगों में सुख नहीं है क्या समझ में आया साधक जी क्या समझ में आया वर्षों से विद्या पढ़ते आ रहे हैं पढ़ाते आ रहे हैं हमें ये निर्णय नहीं कर लेना चाहिए कि ये जो विद्या हमने पढ़ी है ये मुझे आ गई है लंबे काल तक पचास वर्ष के बाद ही वो व्यक्ति एक दृष्टान्त है ये वो व्यक्ति अर्थात योग्यता के आधार पर हो सकता है कोई पंद्रह वर्ष लगाए हो सकता है कोई बीस तीस पचास तो आगे बढ़ते जाइए आप इतना सुनने पढ़ने पढ़ाने के पश्चात भी जो उसके मन में ये बात आई थी कि मुझे विद्या आ गई है वो चालीस पचास वर्ष में भी अच्छी तर अच्छे प्रकार से ये नहीं देख पाएगा कि विषय भोगों में दुख है सुखी दिखाई देगा ये स्थिति है विद्या और अविद्या की ये अलग बात है जितना उसने परिश्रम किया होगा उस परिश्रम के अनुसार वो अल्प मात्रा में देख पाएगा परिश्रम के आधार पर मात्रा घट सकती है घटते घटते घटते घटते मात्रा घटती जाएगी कम दिखाई देगा सुख पर वो उसमें दुखी दिखाई देने लग जाए पचास वर्ष में ये नहीं कर सकते आपका क्या अनुभव है बताइए वेद मुनि जी बोलिए लंबे काल तक करने पर होगा लंबे काल तक अभ्यास करते इसलिए इन ग्रंथों को दर्शनों को उपनिषदों को वेदों को पढ़ते पढ़ाते रहने पर भी ये लोगों में जो देखा जाता है उस पढ़े सुने पढ़ाए के विपरीत आचरण देखा जाता मन वाणी शरीर से उल्टा आचरण देखा जाता ये सिद्ध ही है ये बात उन्होंने ये मान लिया है कि हमको विद्या आ गई है अब विद्या को दोहराना पढ़ना पढ़ाना उसकी रक्षा करना अविद्या को हटाना दूर करना ये हमारा काम रहा ही ऐसा वो मानते आप भी ऐसा मान सकते हैं हो सकता है अब भी मानते हो आप एक व्यवहार का दृष्टांत देता हूं जो व्यक्ति 50 वर्ष से ये पढ़ता आया सुनता आया सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए एक छोटी सी बात है एक ही तो वाक्य है आज वो 50 60 वर्ष का हो चुका या सत्तर का हो गया और 15 वर्ष से वो कहता पंद्रह वर्ष की अवस्था थी जब कहने लगा था आज तक वो अच्छे प्रकार से मन वाणी शरीर से सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में उद्यत नहीं हो पाया नहीं उद्यत कुछ क्षेत्रों में उसको प्रयोग में ले आता है पर एडी से चोटी नीचे से ऊपर तक सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में उद्यत नहीं है यदि ओट में कितने व्यक्ति हो सकते हैं मेरा जो परीक्षण हुआ इतने लंबे काल से आज लगभग पचहत्तरवा वर्ष है और परिवर्तन हुआ था अठारह उन्नीस में आज तक एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जो एडी से चोटी तक नीचे से ऊपर तक सर्वथा सर्वदा सत्य के ग्रहण करने सत्य के छोड़ने में उद्यत रहता हूं मैं परीक्षा नहीं कर पाया ये तो मैं नहीं कह सकता मैंने परीक्षा कर ली थी सबकी मैंने मेरी परीक्षा के अनुरूप कहता बात समझ में आई मैं देखा मैंने देखा हो व्यक्तियों को और मैंने परीक्षा नहीं की हो उसका उत्तरदायित्व मैं नहीं लेता ऐसे व्यक्ति देखे हो मैंने और मैं उसका परीक्षण नहीं कर पाया उसको हटाओ वोट में कितने व्यक्ति हैं उसको भी हटा दो मैं सबको नहीं देख पाया हूं इतना सीमित अर्थ करिए जिसका मैंने परीक्षण किया हो अच्छी तरह देखा हो उसको मैंने व्यवहार में लाके समझ के और फिर ये परिणाम निकला हो ये व्यक्ति सर्वथा सर्वदा सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में उद्दित रहता है आगे बात समझ में नहीं आई कहीं संशय भ्रांति न हो जाए किसी को इतना अभाव एक ही तो बात थी सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्दित रहना चाहिए बात इतनी है और वो एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा है तो आप तुलना कीजिए क्या सुनते हैं क्या पढ़ते हैं क्या पढ़ाते हैं कितनी विद्या आ गई इससे आप परिणाम निकाल सकते हैं दूसरी बात समझ रखिए ये जो बातें पढ़ाई जाती हैं सिखाई जाती हैं समझाया जाता है या तो ये वेदों की बात है या फिर ऋषिकृत ग्रंथों की बात है ये अपने अनुभव में लाई हुई बातें हैं यदि आप ये समझते हो कि ये बातें कहने की है ये बातें कोई व्यवहार में आने की नहीं और इन बातों में हम चल के क्या करेंगे इसके लिए आपको करना है इनको आचरण में लाके आप देख लें अच्छी तरह से जो बताई जा रही है प्राय प्राय इसलिए है कि अल्पज्ञता के कारण अल्प ज्ञान होने के कारण वो बात अन्यथा कहीं कही जाए या बताई जाए तो वो बातें जो सुनाई जा रही वो वेद की हों या ऋषिकृत ग्रंथों की हों या अपने अनुभव की हों वो जो की तो मिलेंगे आपको क्या समझ में आया है आप बोलो ये बातें जो ऋषिकृत ग्रंथों से हमको प्राप्त हुई है वेदों से प्राप्त हुई है वो ज्यो की त्यों अपने जीवन में हम उतार सकते हैं ऐसा मन में नहीं जसता ऐसा मानना भूल है उसके लिए हम प्रयास तो शुरू करें तो आगे चल करके उसका लाभ दिख सकता है उसमें संशय का होना या भ्रांति का होना ये स्थिति बनी रहती है इनमें से जितनी बातें सिखाई बताई जाती है एक भाग मैंने बतलाया हमने उन बातों को अनुभव लाके नहीं देखा फिर वेद की है एक भाग कुछ ऐसी बातें दर्शनों उपनिषदों की है जिनको हमने प्रयोग में लाके नहीं देखा वो एक विभाग या तो वो सुनाते हैं हम तीसरे भाग में जो हाँ जी इनका प्रयोग कर करके देखते हैं वो सुनाते हैं इन बातों को इस रूप में जो बताया सिखाया जा रहा ये कोई थोड़े काल थोड़े परिश्रम थोड़े अध्ययन से ये नहीं बताया जा सकता इस रूप में नहीं सिखाया जा सकता इस दृष्टि से भी नहीं सिखाया जा सकता दृष्टि भी ये नहीं मिलेगी लोक में एक दृष्टांत ले सकते माता पिता आदि बच्चों के संबंधी तन मन धन से वही बात बालक को सिखाते पढ़ाते जिससे वो धनवान और सुखी हो जाए संपत्तिशाली हो जाए और माता पिता तन मन धन समर्पित कर देते हैं क्या कारण है उसमें ये कारण है कि उन्होंने धन संपत्ति आदि साधनों से सुख प्राप्त किया है दुख को हटाया है और वही अपने बालक बालिकाओं को देना चाहते हैं ये आज के माता पिता ऊपर से वेद की बात को कहते हुए भी कुछ मानते हुए भी वो जैसे बालक बालिकाओं को धनवान संपत्तिशाली अधिकारी ऊंचा उठाना चाहते हैं ऐसे अपने पुत्र पुत्रियों को वो विद्वान बनाना नहीं चाहते वो योगी बनाना नहीं चाहते वो धार्मिक बनाना नहीं चाहते वो समाधि लगाने की विद्या सिखाना नहीं चाहते क्या कारण हाँ जी उदय जी क्या कारण है वो इस आध्यात्मिक विद्या को सुखप्रद नहीं मानते नहीं मानते क्योंकि वो इसका प्रयोग करके नहीं देखते प्रयोग करके जो अनुभूतियां होती हैं जैसे धन संपत्ति आदि साधनों से सुख की अनुभूतियाँ दुख का निवारण प्रत्यक्ष देखा जाता है ऐसे योग विद्या दर्शन विद्या वेद विद्या योगाभ्यास करने से दुख का निवारण और सुख की प्राप्ति नहीं देखी जाती उनके जीवन इसलिए ऐसा करते हैं थोड़ा सा प्रयोग करेंगे संस्कृत भाषा का रणवीर महोदय भवान इदम ज्ञापयतु कदापि भवतः अजाया जन्म जातुम न वा तो आत्मा दृष्टिया तो न जाता हूँ भगवान शरीर दृष्टिया तो जाता हूँ तो न हम शरीर से